और अगर मुशरिकों में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दें यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दें इसलिए कि ये वो लोग हैं जो नहीं जानते